परम पिता परमात्मा का स्मरण परम सहायक परमात्मा प्रणव धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा को स्वीकारने मानने वाले धार्मिक परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हैं उस श्रद्धा भक्ति के पीछे मुख्य कारण है परमात्मा के द्वारा हमारे प्रति किए गए उपकारों का स्मरण या स्वीकार जितना जितना हम परमात्मा के उपकारों को सहायता को स्वीकारते हैं उतना उतना ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है भक्ति बढ़ती है तो ईश्वर को स्वीकारने वाले परमात्मा को अपना सहायक मानते हैं परमात्मा के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता इसको वो स्वीकारते हैं कि जो परमात्मा को मानते हैं सहायक मानते हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा को सहायक स्वीकार करते हैं परमात्मा सहायक है परम सहायक है सबसे बड़ा सहायक है सबसे अधिक सहायक है इस वाक्य को शब्द को बोलते हुए मन में भावना रखते हुए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पर विचार रखता है और जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करते वो तो परमात्मा को सहायक मानते ही नहीं है जब ईश्वर को मानने वालों और न मानने वालों के बीच में बातचीत चलती है और ईश्वर को मानने वाले अन्यों को कहते हैं ईश्वर को मानना चाहिए क्यों मानना चाहिए तो क्योंकि ईश्वर हमारी बहुत सहायता करते हैं ये करते हैं वो करते हैं लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते अथवा अन्यों के अनुसार कहें चलो ईश्वर होगा भी लेकिन ईश्वर की क्या सहायता हमें जीवन में मिल रही है अपने सारे कर्म मैं स्वयं करता हूं उठना बैठना घर की सफाई कमाना मकान बनाना खाना बनाना उपचार करना करवाना सब मैं करता हूं हमारा परिवार करता है अन्य मनुष्यों से हम सहयोग लेते हैं उसके बदले में उनको कुछ प्रतिदान करते हैं धन या और कुछ सेवा आदि तो जिस प्रकार से अन्य प्राणियों से मनुष्यों से हमें सहयोग मिलता रहता है और वो प्रत्यक्ष होता है ऐसा परमात्मा से कोई सहयोग हमें दिखाई नहीं देता जब जो कर्म हम करते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं उसका फल परिणाम प्रभाव हमें मिलता है हमारे कर्म के अतिरिक्त पुरुषार्थ के अतिरिक्त परमात्मा का कोई सहयोग आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता तो आस्तिक जब उनको कहते हैं देखो वृष्टि होती है समय पे ये मनुष्य तो नहीं कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है तो कहता है कि ये वृष्टि परमात्मा कैसे करा रहा है इसमें परमात्मा को मानने की कहा आवश्यकता है ये परमात्मा का सहयोग कैसे है सूर्य तपता है समुद्र है उनमें जल है वाष्प ऊपर उठती है बादल बनते हैं मानसून होता है जहां वृक्ष अधिक होते हैं जहां पहाड़ हैं इत्यादि विभिन्न कारणों से वृष्टि न्यून या अधिक होती रहती है हवा का वेग उसमें कारण होता है तो ये तो प्रकृति में नेचर में ऐसा होता है इसमें परमात्मा क्या कर रहा है यहां तो प्रकृति के भौतिक जगत के नियम काम कर रहे हैं कहें कि अन्न वनस्पतियां फल आदि उत्पन्न हो रहे हैं अभी प्रकृति काम कर रही है ईश्वर यहां क्या कर रहा है प्रकृति ऐसी है भोजन करते हैं भोजन पचता है शरीर में रस रक्त आदि हड्डियां आदि बनती हैं देखो ये ईश्वर कर रहा है ये प्रकृति है प्रकृति में शरीर बना है इसी प्रकार का शरीर है सारी व्यवस्थाएं हैं वो चल रहा है तो जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं वे जिन कर्मों में सहायता अन्यों की देखते हैं वो स्वीकार करते हैं और जिन कर्मों को स्वयं करते हैं और परिणाम प्रभाव आते हैं इच्छा अनुकूल फल आते हैं उसमें वो अपना कर्तृत्व मानते हैं और जिनमें न अन्य प्राणी या तो अन्य मनुष्यों का सहयोग नहीं है न उनका स्वयं का सीधे सीधे है वहां प्रकृति कर रही है तो ईश्वर की सहायता का कहा अंश रह गया तो वो स्वीकार नहीं कर पाते और दूसरा पक्ष है जो ईश्वर को स्वीकार करता है वो हर बात में ईश्वर को रखता है कि जिसको आप प्रकृति कह रहे हो प्रकृति से ये वृष्टि हो रही है ये अपने आप तो बन नहीं सकती अपने आप तो चल नहीं सकती तो कोई चेतन बुद्धिमान सोद्देश्य इसका निर्माण करता है चला रहा है और यदि ये सब ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य पृथ्वी जल वायु शरीर की रचना ये सब चीजें जो चल रही हैं भौतिक रासायनिक गतिविधियां हो रही हैं ये मनुष्य नहीं कर रहा है तो परमात्मा ही कर रहा है और परमात्मा ना करे तो हमारा जीवन कुछ नहीं चल सकता इसलिए परमात्मा ही ये सब कर रहा है ये हमारा सहायक है परम सहायक है ईश्वरवादी फिर जब एक बात देखते हैं कि परमात्मा की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता जो कुछ मिला है वो परमात्मा की सहायता से मिला है परमात्मा को वो परम सहायक मानता है और फिर वो जीवन में अपनी घटनाओं में हर जगह परमात्मा को जोड़ने लगता है परीक्षा में अच्छे अंक आ गए परमात्मा की बड़ी कृपा हुई अच्छी नौकरी लग गई व्यापार अच्छा चल गया परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा का सहयोग रहा अच्छा मकान बना लिया अच्छी संतान हो गई परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा का सहयोग है किसी कार्य को करने के लिए निकले कार्यालय में जाना है और वहां कोई कार्य संपन्न करवाना है आशंका है कि रिश्वत लेंगे कुछ अटकाएंगे कुछ दोष निकालेंगे लेकिन गए और काम बिल्कुल ठीक हो गया परमात्मा की बहुत सहायता है हर कार्य में परमात्मा की सहायता को वो देखता है उसे भक्ति समझता है कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति आए थे कहने लगे परमात्मा पे मेरा विश्वास और अधिक बढ़ता जा रहा है और अधिक बढ़ता जा रहा है है तो सही परमात्मा यानी पहले संदेह था इतने वर्षों तक अब विश्वास होने लगा नहीं परमात्मा है कैसे विश्वास हो रहा है स्वयं ही बोलते जा रहे हैं कि पहले परमात्मा अब हमारी कामना को सुनता है हम जो इच्छा करते हैं वो उसको पूरा करता है ये मेरे को विश्वास होता जा रहा है इससे परमात्मा पे विश्वास आता जा रहा है बड़े भक्ति भाव से बड़े विश्वास से बोले मैं पुस्तक के लिए कार्य, कार्यक्रम था उसमें पुस्तक लेके गया मेरे मन में भाव हुआ कि पचास साठ हजार की तो बिक ही जानी चाहिए और वो हुआ इतनी पुस्तकें गई शक्ति तो है प्रार्थना को स्वीकार तो वो करता है और जैसा वो कामनाएं पूर्ति होती जाती हैं परमात्मा पे और विश्वास बढ़ता जा रहा है मेरा आस्तिक है ईश्वर को स्वीकार करते हैं ईश्वर पर और विश्वास बढ़ रहा है इसको प्रशंसा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और अच्छी बात है ईश्वर पर विश्वास बढ़ना लेकिन किस रूप में विश्वास बढ़ रहा है परमात्मा के द्वारा सहायता मिल रही है इसलिए विश्वास बढ़ रहा है और सहायता का स्वरूप ऐसा ही बहुत अधिक मिलेगा किसी कार्य को करने निकले धार्मिक कार्य को परोपकार के कार्य को अच्छा हुआ तो परमात्मा की सहायता मिल रही है ये धार्मिक व्यक्ति मानता ही है अधिकांश यही मानते हैं किसी कार्य को करने में लगे कि ये कार्य मुझे करना है संकल्प है आध्यात्मिक कार्य है धार्मिक कार्य है वेद का कार्य है और वो निर्विघ्न पूरा हुआ तो परमात्मा की कृपा को अवश्य मानते विघ्न बाधाएं आती रहीं तो भी ये कार्य संपन्न हुआ परमात्मा की बड़ी कृपा है परमात्मा सहायक है और उससे उनकी उपासना भी अच्छी होती है ध्यान भी लगता है ईश्वर की भक्ति बढ़ती है ईश्वर पर विश्वास बढ़ता जाता है पुरानी कथाएं भी आप लोग सुनते हो गुरुकुल में अन्न नहीं बहुत से बच्चे अध्यापक आटा नहीं सब्जी नहीं दाल नहीं है ही नहीं तो बनेगा क्या लेकिन फिर भी गुरुकुल के अधिष्ठाता आचार्य को विश्वास कि परमात्मा है वो प्रार्थना को सुनता है और अच्छे लोगों की सहायता करता है वाक्य बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा है है परमात्मा परमात्मा प्रार्थना सुनता है ये भी बिल्कुल ठीक है सुनता है परमात्मा सहायता करता है ये भी बिल्कुल ठीक है सहायता करता है परमात्मा अच्छे लोगों की सहायता करता है ये भी बिल्कुल ठीक है वाक्य बिल्कुल ठीक है घंटी का समय होता है भोजन का घंटी लगती है वो कहते नहीं लगा दो घंटी भोजन तो है ही नहीं घंटी लगा के करेंगे क्या बोले नहीं ईश्वर का विश्वास है घंटी लगी भोजन आया सेठ भोजन लेकर के आया किसने सहायता की ईश्वर ने सहायता की आज समाज में जितनी पूजा होती है मंदिरों में जितना चढ़ावा चढ़ता है जितना ईश्वर के नाम पर दान दिया जाता है जितना ईश्वर के नाम पर सेवा की जाती है उस सब के पीछे क्या भाव रहता है हम ये करेंगे और परमात्मा इसका ये ये फल देगा और कौन सा फल देगा वो कामना साथ में अपनी अपनी रहती है कोई चुनाव में जीतना चाहता है कोई पद चाहता है कोई सोचता है मेरी फैक्ट्री लग जाए ये काम पूरा हो जाए कोई धर्मशाला बनाना चाहता है कोई आश्रम बनाना चाहता है और इन सब में परमात्मा से सीधे सीधे प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमात्मा सहायक है जो अच्छी तरह से बैठा हुआ है मन में तो मनुष्यों में दो बड़े वर्ग हैं एक वो जो ईश्वर को मानते नहीं हैं और ईश्वर की सहायता को भी स्वीकार नहीं करते प्रकृति से हो रहा है और दूसरी तरफ वो वर्ग है जो परमात्मा के द्वारा ही अपनी सब चीजों को सब प्राप्तियों को होता हुआ स्वीकार करता जाता है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते कहते हैं इससे हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आता है और जो ईश्वर को मानते हैं वो उनको कहते हैं इससे आपका अहंकार बढ़ता है क्योंकि जो कुछ भी पाया है वो मैंने पाया है या अन्य मनुष्यों के सहयोग से अधिक से अधिक उनको स्वीकार करते हैं परमात्मा को स्वीकार नहीं करते तो एक अलग प्रकार का अहंकार आता है ये कर्म हमने किया ठीक है हमने किया और वो ये सत्य है हमने किया लेकिन जब व्यक्ति ये देखता है मैंने ही किया सब कुछ मैंने लगाया तो एक अलग विचार उसके साथ साथ बनता जाता है और उससे उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है और जब व्यक्ति अपने को छोड़ के अन्यों को भी स्वीकार करने लगता है माता पिता का सहयोग भाई बहन का मित्रों का अन्य को तो एक अलग भाव बनता है वो अहंकार नहीं रहेगा वो कर्तृत्व तो उस तरह का नहीं रहेगा जैसे जिले का अधिकारी जिलाधीश या देश का प्रधानमंत्री ये सोचे बहुत सारी अच्छी चीजें हो गई ये मैं कर रहा हूं वो कर रहा है नेतृत्व उसका है निर्णय उसके हैं उसको श्रेय भी मिल रहा है और वो अपने को मान ले सब कुछ तो एक अलग अहंकार पैदा होगा और उससे व्यवहार भी बदलेगा जबकि वास्तविकता यह है कि यदि हजारों कर्मचारी अधिकारी न हो तो एक जिलाधीश जिले में कुछ नहीं कर सकता वो सूचना तक नहीं पहुंचा सकता अपने आदेशों को लागू नहीं करवा सकता हजारों लोग लाखों लोग लगते हैं तब जाकर के वो शासन चल पाता है एक भारत देश को चलाने के लिए लाखों कर्मचारी चाहिए सैनिक चाहिए सिपाही चाहिए तब जाकर के वो हो पाता है लेकिन अगर अधिकारी ये सोचने लगे ये तो सब मैं करवा रहा हूं और ये बन जाता है तो जब हम दूसरे को सहायक नहीं स्वीकार करते हैं उनकी वास्तविक सहायता को भी स्वीकार नहीं करते हैं तो एक अहंकार में चले जाते हैं और वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से मानवीयता की दृष्टि से एक हानिकारक स्थिति बनती है इसलिए इस हानि से बचने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति अत्यंत विनम्र होने के लिए अत्यंत कृतज्ञता रखने के लिए परमात्मा को ही सब कुछ स्वीकार करने लगता है जब परमात्मा ने ये सब कुछ दिया धार्मिक व्यक्ति ये कहता है साथ में कर्म के अनुसार दिया ये भी कहता है तो दूसरा व्यक्ति जो ईश्वर को सह स्वीकार नहीं करता या थोड़ा स्वीकार करता है वो कहता है फिर ये हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है परमात्मा कर्मों के अनुसार दे रहा है इसमें परमात्मा का क्या सहयोग है परमात्मा की क्या कृपा है जब धार्मिक व्यक्ति परमात्मा पे आशा करके अत्यधिक आशा करके चलता है तो उसका पुरुषार्थ कम हो जाता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इसका व्यापक प्रभाव है जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार सहायक नहीं करता है उसमें एक अहंकार विशेष प्रकार का बनता है वो एक वहां आता ही है लेकिन वो पुरुषार्थ करता रहता है क्योंकि उसे पता है मुझे ही करना है या अन्यों से सहयोग लेके करना है तो उनको करना है वहां पुरुषार्थ पर्याप्त रहेगा लेकिन एक अहंकार साथ में आता है और दूसरे पक्ष में अहंकार तो नहीं रहेगा कम होगा लेकिन पुरुषार्थ भी न्यून हो जाता है परमात्मा करेगा ये भी मानते हैं कि हम हमें पुरुषार्थ करना है लेकिन वो पुरुषार्थ प्रार्थना के रूप में पर्याप्त रहता है वो प्रार्थना को ही बहुत अधिक पुरुषार्थ समझने लगते हैं करते हैं पुरुषार्थ कम करते हैं अपेक्षा से कम हो जाता है ये आस्तिकों के अंदर दोष आ जाता है कारण ये कि परमात्मा की सहायता क्या है कितनी है इसकी भिन्नता है मान्यता की भिन्नता है स्वस्थ रहना सभी चाहते हैं एक ये मानता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है कि मैं स्वस्थ हूं और विशेष प्रयास नहीं करता है और दूसरा बहुत प्रयास कर रहा है परमात्मा को नहीं मान रहा है और जब संसार में हम परिणाम देखें तो जो पुरुषार्थी है और ईश्वर को भले ही नहीं मान रहा है वो अधिक स्वस्थ दिखाई देगा इसी प्रकार से धन संपत्ति विद्या आदि के क्षेत्र में भी यही दिखाई देगा इसका कारण यही है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं ईश्वर को परम सहायक मानते हैं लेकिन अति सहायक मान लेते हैं महर्षि दयानंद ने इन बातों को जगह जगह पर संकेत किया कि बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना सफल नहीं होती और परमात्मा सहायता भी नहीं करता परमात्मा की सबसे बड़ी सहायता हमारे लिए क्या है ये शरीर दे दिया बुद्धि दे दी ये सबसे बड़ी सहायता है हमें लगेगा ये तो अद्भुत चीज है अद्भुत है कर्मों के अनुसार उसने दिया है और खाने पीने की चीजें भी अपने आप में एक एक खाद्य पदार्थ एक एक फल अद्भुत है परमात्मा की सबसे बड़ी सहायता क्या है तो ये वस्तुएं कहते नहीं परमात्मा ने हमारे को ये जीवन दिया है ये बड़ी सहायता है जीवन को चलाने के लिए वस्तुएं दी हैं वो भी सहायता है लेकिन जीवन दिया ये बहुत बड़ी सहायता है नहीं तो वो शरीर ही नहीं देता जीवन ही नहीं चलता हमारा आत्मा के रूप में हम रहते ये भी बहुत बड़ी सहायता है क्योंकि जीवन दिया लेकिन इसके साथ ज्ञान दिया ये सबसे बड़ी सहायता है अगर ज्ञान नहीं देता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे हम अपने आप कितना सा सीखते हैं पशुओं के समान जीवन होता तो ज्ञान दिया ये परमात्मा की सबसे बड़ी सहायता है तो बहुत बड़ी बड़ी सहायताएं हैं इनको देख करके हम परमात्मा को परम सहायक कह सकते हैं इन सब से भी पढ़ करके परमात्मा की एक सहायता परम सहायता जो कि वास्तव में सहायता नहीं दिखाई देती है जो कि वास्तव में कोई सहायता नहीं है लेकिन है सबसे बड़ी सहायता वो मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता देना है निर्णय की स्वतंत्रता देना है परमात्मा अगर यूं ही सहायता करना चाहता है कि इनको सुख मिले साधन मिले वो तो बिना कर्म के बिना उसके भी दे सकता था दे देता यूं ही साधन उपलब्ध कराना ही यदि सहायता है तो जो माता पिता बच्चे के लिए खूब खाना पीना कपड़े लत्ते साधन सब खूब दे देते हैं लेकिन उन्हीं के अनुसार उसे चलना है बांध के रखा है नियम से वो सहायता बहुत बड़ी होते हुए भी कोई सहायता नहीं एक तरह से लेकिन है सहायता लेकिन एक सहायता यदि माता पिता बच्चों को यह दे दें कि आप कर्म में स्वतंत्र हो अपने अनुसार चलो अपने निर्णय स्वयं करो अब इसमें सीधे सीधे कोई सहायता नहीं की जा रही है परमात्मा ने हमें मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र किया है ये सीधे सीधे कोई सहायता नहीं है लेकिन ये इतनी बड़ी सहायता परमात्मा की हमारे लिए है जिसकी हम कामना करते हैं स्वतंत्रता की कामना करते हैं हम इच्छा अनुसार कर्म कर सकते हैं निर्णय ले सकते हैं यदि ये ना हो एक तत्व ना हो कर्म की स्वतंत्रता ना हो बाकी सब कुछ उसने दे दिया हो तो हम उसके बंधक की तरह रहेंगे परमात्मा हमारी कर्तृत्व का हमारे कर्तृत्व का सम्मान करता है उसे अवसर प्रदान कर रहा है इतने सब साधन दे करके भी जिसके लिए हम उसके अत्यंत कृतज्ञ हैं वो सब सहायता होते हुए भी उसने इससे भी बड़ी सहायता कृपा की कि उसने हमें बांधा नहीं है उसने हमें निर्देश दिए ऐसा करने से अच्छा होगा ऐसा करने से बुरा होगा उसके अनुसार वो न्याय भी करता है कर्म फल भी देता है लेकिन फिर भी हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है ये परमात्मा की अत्यंत कृपा है बड़ी सहायता है लेकिन जो परमात्मा की परम सहायता को परम सहायक स्वरूप को इसी रूप में देखते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है मैं जो भी कर रहा हूं जो भी मिल रहा है वो परमात्मा की सहायता से आ रहा है इस विचार के करने से वो परमात्मा की इस सहायता को कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं भुला देता है जो भी अच्छा काम कर पाए परमात्मा की कृपा हुई तो कर पाए यहां परमात्मा की जितनी कृपा सहायता है वो स्वीकार करना बिल्कुल ठीक है परमात्मा की सहायता सर्वत्र है लेकिन उसका स्वरूप क्या है कि उसने हमें सहायता शरीर आदि के रूप में दी है साधनों के रूप में दी है इस रूप में हमें परमात्मा को सहायक अवश्य स्वीकारना चाहिए लेकिन कर्तृत्व के रूप में भी जहां हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं वहां भी परमात्मा की सहायता को बीच में ले आना स्वीकार करने लग जाना परमात्मा की दी हुई एक बड़ी सहायता कर्म की स्वतंत्रता को विस्मृत करना है और जब इसको विस्मृत करते हैं तो फिर प्रश्न खड़े होते ही है फिर देखता है देखते हैं कि ये नास्तिक है ये इतनी प्रगति कैसे कर रहे हैं क्योंकि वो मानता है कि धन मिला है तो परमात्मा की सहायता से मिला है तो ये दुष्टों के पास इतना धन कैसे है जो विचारेगा तो इसी परमात्मा की सहायता को विचारते हुए परमात्मा से अलग होता चला जाएगा यदि बुद्धिमान है तो क्योंकि परमात्मा की सहायता का जो स्वरूप विकृत रूप से मान लिया गया उसको देख करके व्यक्ति नास्तिक बनेगा ही और एक बहुत बड़ा कारण ईश्वर की सहायता को न मानने का यही है कि जो ईश्वर की सहायता का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है उनको स्वीकार्य नहीं है ये तो परमात्मा की सहायता कैसे कहे हम अब वो धनिक व्यक्ति भोजन लेकर के आ गया और वो कह रहे हैं परमात्मा की सहायता है ये अर्थात उस व्यक्ति के धनिक व्यक्ति के कर्म की स्वतंत्रता को हम स्वीकार नहीं कर रहे गुरुकुल की प्रतिष्ठा है गुरुकुल कार्य कर रहा है जनता में उसकी सूचना है तो क्या किसी के मन में ये भाव नहीं आ सकता स्वयं कर्तृत्व के रूप में कि मैं गुरुकुल में जाके भोजन कराऊं मेरे पास धन है मैं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए कुछ सहयोग करूं ये भाव स्वतंत्रता से नहीं हो सकता बड़े पक्ष हैं वो भी अति है कि हम परमात्मा को स्वीकार नहीं करते और ये भी अति होती है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है और ये अति एक बड़े वर्ग में है कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से और परमात्मा की सहायता से ही हो रहा है परमात्मा ऐसा ही चाहता है इसीलिए ऐसा हो रहा है अब चाहे किसी देश पे आक्रमण हो चाहे किसी देश में भ्रष्टाचार हो तो परमात्मा ऐसा ही चाहता है ऐसा ही होना है ये उस अति में जाते हैं जो कि आस्तिकों को नास्तिक बना देता है और अन्यों को भी उनको देख करके ईश्वर से विमुख कर देता है ये अपने को आस्तिक समझते रहते हैं लेकिन नास्तिक जैसा रूप बन जाता है साधक भी इस तरह की बहुत सारी कामनाओं से युक्त होते रहते हैं बहुत दिनों से साधना ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं और कामना है कि हमारी समाधि लग जाए हमारे को ये आध्यात्मिक प्रगति हो जाए और ईश्वर से प्रार्थना होती रहती है प्रार्थना में दोष नहीं है लेकिन ये समझने लग जाना धीरे धीरे ये परमात्मा की ही कृपा होगी तभी ये होगा मेरे से तो हो नहीं रहा है अथवा वो ये सोचने लगते हैं मैं इतना कर रहा हूं तो भी परमात्मा नहीं कर रहा है परमात्मा सहायता नहीं कर रहा है तो परमात्मा की भक्ति होते हुए भी मन ही मन में उसको संदेह पैदा हो जाते हैं परंतु नहीं परमात्मा है या नहीं है परमात्मा सहायता करता है या नहीं करता है क्योंकि जिस सहायता की अपेक्षा आकांक्षा उसने मन में पाल ली है कि परमात्मा इस इस तरह से सहायता करता है परमात्मा उस ढंग से सहायता करता ही नहीं है इसलिए वो सहायता उसको होती भी नहीं है लेकिन उसकी मान्यता के अनुसार ये सहायता होनी चाहिए चूंकि सहायता नहीं हो रही है इसलिए परमात्मा के प्रति उसमें बार बार संदेह अंदर पैदा होते रहेंगे वो बाहर से भले ही वर्षों से ईश्वर को मान रहा है स्वीकार कर रहा है बोलेगा भी वही लेकिन अंदर से जो ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए वो उसका नहीं होगा अंदर से शिथिल रहेगा संदेह बना रहेगा और ऐसे व्यक्ति जो वर्षों बाद में कहते हैं कि नहीं अब मेरे को ईश्वर पर विश्वास हो गया तो दूसरे तो उनको वर्षों से सुनते थे आप तो ईश्वर के सिद्धि करते हैं ईश्वर को स्वीकार करते हैं पूरे ईश्वर भक्ति ही आप लगते थे अब ईश्वर पे विश्वास पैदा हुआ ये कथन आ कहां से गया तो क्या अब तक विश्वास नहीं था हमें तो बाहर से यही दिखता था कि आपको ईश्वर पे पूरा विश्वास है और ये वास्तविकता होती है अंदर ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता और उसमें कारण है हमारी ये इस प्रकार की अज्ञानता कि ईश्वर कैसा सहायक है तो जहां जहां हमारा कर्तृत्व है अन्यों का कर्तृत्व है कर्म की स्वतंत्रता है परमात्मा के द्वारा प्रदत्त कर्म की स्वतंत्रता है उसको स्वीकार करते हुए पूरा पूरा और वहां वहां उन उन प्राणियों का उन उन मनुष्यों का और स्वयं का सहयोग स्वीकार करते हुए अब जो चीज बची है उसको परमात्मा की सहायता स्वीकार किया जाए जो कि वास्तविक है ज्ञान के स्तर पर भी हम ये समझते हैं कि परमात्मा ज्ञान देता है ठीक है प्रेरणा देता है और जब भी कोई नया विचार आ जाता है जब भी कोई नई समस्या को हम सुलझा पाते हैं तो क्या सोच लेते हैं परमात्मा ने ये समस्या को सुलझाया परमात्मा ने ये ज्ञान दे दिया ये ठीक है कि परमात्मा भी ज्ञान देता है लेकिन दूसरा सत्य ये भी है जब हम पुरुषार्थ करते हैं सोचते हैं तो परमात्मा की दी हुई बुद्धि के माध्यम से जो हम निर्णय निकालते हैं वो हम स्वयं निकालते हैं वो सदा परमात्मा नहीं देता है समस्याओं को सुलझाना ज्ञान विवेक का पैदा होना वो सदा परमात्मा देता है ऐसा भी नहीं है ये व्यवस्था परमात्मा की है हम प्रयत्न करेंगे तो हमें प्राप्त तो होता रहेगा स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है स्वयं वो स्थिति बनती है समझ बनती है प्रत्यक्ष आदि से बनती है लेकिन अति भक्ति में अति सहायता में फिर हम ये भी मानने लग जाते हैं कि जो भी ज्ञान आया है वो परमात्मा से ही आया है परमात्मा का ही दिया हुआ है जो भी ज्ञान है तो यदि ऐसा है तो फिर गलत बातें क्यों हैं जो निर्णय जो समझ पहले कभी बिल्कुल ठीक लगती थी वो बदलती भी है जिसे हम कभी समझते थे कि परमात्मा ने ही दिया है परमात्मा की कृपा हुई है और कुछ समय कुछ दिन वर्षों के बाद में जब परिवर्तन होता है तब फिर सोचते हैं कि परमात्मा की ही कृपा है परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और इस विरोधाभास को या तो ध्यान नहीं देते या समझते नहीं क्योंकि परमात्मा के प्रति भक्ति भाव बनाए रखना है अति प्रशंसा का भाव तो परमात्मा सहायक है परमात्मा परम सहायक है कोई दो राय नहीं लेकिन परमात्मा की परम सहायता क्या है ये विवेक पूर्वक मन में रखना होता है नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी कुछ न कुछ समस्या होगी और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा होगी समझता व्यक्ति यही रहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं क्योंकि परमात्मा को परम सहायक का है मैं मान रहा हूं उसको आभास ही नहीं होता कि मैं कैसे गलत मान रहा हूं अब जब इस विचार को व्यक्ति रखेगा जिन्होंने सोचा कि मेरी इतने रुपए की पुस्तकें बिके और ये मैंने कामना की और ईश्वर ने सुनी ईश्वर की भक्ति बढ़ गई अगली बार क्या करेंगे वो अगली बार जब पुस्तक बेचने जाएंगे तब क्या करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे क्या वो हर बार ठीक हो जाएगी क्या पुस्तकों का बिकना परमात्मा के ऊपर निर्भर है कौन लेने वाला आएगा कौन कितनी किताब लेगा अपने लिए लेगा दूसरों के लिए लेगा उसके पास अभी पैसे हैं नहीं है कितने हैं ये सब व्यक्तियों पर निर्भर करता है उनके कर्म की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है लेकिन इसने मान लिया कि ये ईश्वर की सहायता से हुआ है और अगली बार भी वो यही करेगा और निश्चित है अगली बार सदा ऐसा होगा नहीं तो फिर इससे बचाव के लिए एक औषधि दे दी जाती है कि मेरे ही कर्मों में कहीं त्रुटि रही होगी प्रार्थना में त्रुटि रही होगी सच्चे मन से नहीं हुई होगी इसलिए ऐसा नहीं हुआ है अब समाधान तो वहां भी कर लिया जाता है ईश्वर का कर्तृत्व ईश्वर की सहायता जहां जैसी है उसको वैसा स्वीकार करने पर भी ईश्वर परम सहायक प्रतीत होगा वो है परम सहायक जहां उसकी सहायता नहीं है वहां भी उसकी सहायता मानने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर की भक्ति के लिए श्रद्धा के लिए ये एक मिथ्या जान साथ में बना रहता है तो हमें परमात्मा की इस परम सहायता को भी स्वीकार करना चाहिए मानना चाहिए कि उसने हमें कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है हर मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है और इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि दूसरे का भी कर्तृत्व है मेरा भी है और अन्य चीजें परमात्मा करता है जो परमात्मा करता है अभी कुछ दिन पूर्व तूफान आया बारिश हुई आंधी चली कुछ क्षेत्र में कुछ जिलों में बहुत आम गिर गए फसलें खराब हो गई तो प्राय व्यक्ति के मन में क्या आता है कि यहां के लोग अधिक पापी होंगे और इसलिए ऐसा हुआ है जहां नहीं हुआ वो बोले बड़े पुण्यात्मा है यहां परमात्मा की कृपा है परमात्मा की सहायता है तो जब हर चीज में परमात्मा की सहायता मानते हैं तो परमात्मा के द्वारा हानि होने को भी फिर व्यक्ति अंदर से अंदर मानने लगता है बाहर से भले ही मना करे जब भी कुछ होगा परमात्मा ने ऐसा किया जब भी कोई दुर्घटना होगी तो सहज ही वो मानेगा परमात्मा ने किया क्योंकि जब हर काम सहायता परमात्मा कर रहा है तो जो गलत हुआ वो भी परमात्मा ही कर रहा है अड़चने आ जाएंगी परमात्मा के प्रति अविश्वास हो जाएगा ये जो सामूहिक रूप से चीजें होती हैं उसमें सबका आप देखेंगे तो सब ऐसे पापी नहीं होते कुछ अच्छे होते हैं वो भी उसी के साथ साथ उनको भी हानि होती है वहां तो निरपेक्ष रूप से हवा चली है और जिनकी हानि होनी है सबकी हो रही परमात्मा की तरफ से यदि कोई दंड दिया जाता है तो वो छांट के दिया जाएगा वो कर्मों के अनुसार दिया जाएगा और परमात्मा के पास उसके अन्य उपाय हैं परमात्मा की सहायता को विवेक से हम जितना अच्छा देख सकते हैं जितना परिष्कृत रूप से देख सकते हैं उतना ही आध्यात्मिक मार्ग में हम अपने लिए बाधाएं कम खड़ी करेंगे या नहीं करेंगे परमात्मा परम सहायक है और परमात्मा की परम सहायता को स्वीकार करते हुए हम सदा ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे कि परमात्मा की सहायता क्या है और क्या नहीं है क्या हमारा कर्तृत्व है और क्या परमात्मा का है लेकिन ये परमात्मा को सहायक स्वीकार करना आध्यात्मिक उन्नति प्रगति के लिए बहुत सहायक है अपने आप में बहुत हितकर है वो परमात्मा को परम सहायक स्वीकारते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ